तो क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं जिससे उन्हें वो दिल हासिल होते जो उन्हें समझ दे सकते या ऐसे कान हासिल होते जिससे वो सुन सकते हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर हैं